अब योग सिद्धि किस होती दो श्लोक बताते खास सब योग योग ध्यान योग में लिए खास और जितने योग करते हैं भगवान में चलते हैं उन सबके लिए योग है नाट्यस नतस्व योग होती ज्यादा खाने वाला भी योग सिद्धि नहीं होता न तो एकांत माना स्नातक तो बिल्कुल भूखा रहा उसका भी योग सिद्ध नहीं होता अत्यंत सोता रहे तो सिद्ध नहीं होता और अत्यंत जागता रहे तो योग सिद्धि अनाज अति स्मृत ज्यादा खा लेगा तो पेट भर जाएगा तो पानी पेट लगे पिएगा कहीं पड़ेगा बैठ नहीं सकता न से आध में खावे ही नहीं तो न सूख जाएगा सही निर्बल हो जाएगा वो भी पड़ा रहता नात्यस्मृतस्ती योगोस्ती न से एकांत मानस बिल्कुल ही खावे ही नहीं अत्यंत सोने वाले योग से दिन अत्यंत जागता तो नहीं होगा तो किसका होता है युक्त हार विहार से युक्त से कर्म सु युक्त स्वप्ना बोध से योगो बहुत ही दुख दुखों का नाश करने वाला होता है वो योग इनके सिद्ध होता है युक्त हार विहार आहार युक्त हमने ठीक तरह से सुगमता से शरीर अनुकूल पड़े शुद्ध सात्विक हित तो परिमित तो भोजी नित्य तो में एकांत सेवी सकल बुद्धि हितोक्ति स्वल्प विचार अन्य मनसीनो यो भजत्युक्तानि सर्वतय साधु चित्त हार क्या कितना भोजन करे कैसा करे भोजन युक्त आहार और ध्यान घूमना ज्यादा नहीं जावे और थोड़ा घूम भी जाए दो तीन कोस चार कोस वहाँ चलेंगे वहां चलेंगे वहाँ फिर चलेंगे युक्त आहार आहार आहार का क्या लक्षण है जूत आहार क्या होता है भोजन करने पर बाद में पेट याद न आवे ज्यादा खाने में बाहर भी आएगा भूखा रहे तो याद आएगा थोड़ा पुखरी तनखू दे लगा ये डाल आप भूखे बीच में ना तो पेट भरे ज्यादा और ना भूखा रहे याद आवे ये माप तोल है अब कितना कैसे खुआ के एक सबकी तो अग्नि पात्र सबकी बरबर नहीं हो और योग तो स्वप्न बोध सोना भी उतना ही ठीक तरह से और अब बहुत जागना भी चार बातें बस गई तो छह छह घंटा लगा दो आहार छह बिहार के छह और वो काम करेंगे छह और छह सोने की छह जागने की आहार बिहार में बारह घंटा नहीं लगे तो थोड़े में चला दो आठ दस घंटा और युद्ध तो स्वप्न वो स्वप्न सोना अवबंधन तो चलना तो इसमें थोड़ा लगे झगड़े में ज्यादा भजन ध्यान में ज्यादा सवेरे देखो पैसा अधिक कमा लोगे तो खट जाएगा पर घाटा खटेगा नहीं घाटा ही नहीं खटेगा तो कैसे चलेगा ऐसे ही भजन स्मरण में ज्यादा समय ठीक है खाने पीने में ज्यादा समय ऐसा में ज्यादा समय लगा हो तो भजन कब करोगे मिठा पकवा दो नहीं करनी संयम ठीक दृष्टि तब योग से धोता तो होता तो स्वप्न बोध युक्त स्वप्न छह घंटा सो जाए जागरण छह घंटा भजन ध्यान जब की हरेक के लिए छह घंटा आठ पहर में भजन सुनने में लगाना और कर्म सुयोग कर्म काम करने में काम धंधा करने में कमाने में छह घंटा नहीं तो आठ घंटा लगा दो आठ घंटा उधर लगाओ तो सोने में चार घंटे ही लगाओ और काम करने में चार घंटे ही लगाओ भजन सुनने में आठ घंटा लगाओ भजन सुमरण करना है ये परलोक की पूंजी कमाना है यहाँ धन कमाना है वो निर्वाह के लिए है इस मित्र से घंटा से आठ आठ घंटा कर दो और सोने के बीच में चार चार घंटा से काम करो तो पांच पांच करो पांच दिन ऐसा जिसकी प्रकृति के अनुकूल पड़ रहे तो दुख योगो भवती ऐसे पूछ गया योग दुख का नाश करने वाला होता है अब कहते भाई योगी है वो कैसा योगी होता है उसकी क्या परीक्षा है ऐसे करने वाला योग दुख को नाश करने वाला है कैसा यदा विनियतम चित्तम यदा तदा का योनि बीते वर्षों में बीते महीनों में दिनों में यदा जिस काल में ये विनियतम चित्तम अपना नीत बनाया हुआ चित्त आत्मनि एवं केवल परमात्मा में स्थित होता चित्त में केवल परमात्मा के चिंतन और संसार चिंतन नहीं भोगों का चिंतन पूरा का जरूरत नहीं मेरे तो कोई बात नहीं आत्मनि एवं निष्क्रिय स्व का योग और स्वभाव भोग पदार्थों से निष्क्रिय हो जाए परवा नहीं मिल गया मोज न मिल गया मोज है निष्क्रिय पर पिया कहते परवाह को इतना और होना चाहिए इतना और होना चाहिए ना अपने को मिलता है उतना ही होना चाहिए ज्यादा नहीं देखो भगवान दे दे कृपा करके उससे अपना निर्वाह करना है भोग भोग तो, तो जिस काल में चित्त आत्मा में स्थित होता है सर्व काम निष्क्रिय सब काम तो युक्त योगी हो गया युक्त स्थिति योगी सब वो योगी हो गया चित्त यदा विनियतम तुम चित्तमात्मनिष्ठते और निष्प्रिय स्वरूप युग तदा यदा तथा जब ऐसा हो जाए तो युग युजना उस योग का चित्त कैसा होता है यथा दीपो निवास तो लेंगे तेसो उपमा वायु नहीं हो ऐसी जगह एकांत में तेल बत्ती लगा ले एकांत वो भक्ति बोले नहीं हितादेपो तो निवासस्थ निवासस्थ दीप लहंगते को चिंता करें चिंता नहीं थोड़ा भी भाई और दीपक लो है बात देखता नहीं अपने बन नहीं दिया पर उस लोग ऐसे ऐसे हो जाए ऐसा हो मेरा आदमी निवास दीप लो हिलती भी नहीं है कैसे यथादीप सा उपमा सुनता कृष्ण योगिना यसे आत्मना योग योगिना यसे अपना जो मन लगाता है परमात्मा में ऐसे योगी के यथ तो चित्त जो बस में किया हुआ चित्त है उसकी उपमा वे चित्त ऐसा है योगी ना यथ योगी के ये चित्त की ये उपमा बताई रत तो एक परमात्मा तत्व का सुंदर है उसे डीप नहीं बोल नहीं ये तो ब्रह्म से चित्त ब्रह्म तुम योग से या योग की सेवा से निश्चित हो जाए निरुद्ध मूड क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध भूमिका है मन की चित्त की पांच भूमिका है मूड अवस्था होती है वो योग का अधिकार चित्त चंचल रहता है एक टिकता नहीं कहीं भी तो वो भी योग का नहीं वृक्ष शब्द कुछ टिकता है कुछ सिद्ध वो योग का नहीं उसको ध्यान योग करना चाहिए ध्यान सिद्ध हो सकता है अत्यंत मूड का भी नहीं होगा और अत्यंत चिंतन का भी इसकी है नहीं सिद्ध नहीं होता तो एकाग्रता में समाधि होती है निरुद्ध में निर्विघ्न समाधि होती है रुक गया एकाग्र हो गया एक ही एक चिंतन करता रहेगा कुछ सुनकर योग सेवा से निर्धम आत्मरी यदि शिव आत्मना आत्म प्रसन्न अपने आप में अपने आप को देखता हुआ मस्त रहता है सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है बल्कि एक परमात्मा जब चेतन नाम नहीं सर और आपने अपने ब्रह्म खुश मस्त प्रसन्न रहता जब भगवान में चित्र लग जाता है भाई तब एक मौज होती विलक्षण आत्म पुष्ट अपने में संतोष यानी वृद्धा मेरे संतोष या कोई ऐसा मेरे संतोष या कोई मित्र मेरे संतोष या आदर मिल जाए भिक्षा मिल जाए संतोष होता है विष्ट मुख तुष्ट थी राम मिल जाए उसने संतोषा अमृत तृप्ता राम रसोम शांत संतोष रूपी अमृत भोजन करने वालों को जो सुख होता है लोग धारा में दौड़े बेचारा धन के लिए हाय धन हाय धन हाय धन लोग मरे धन के ऐसा नहीं आत्मनिर्देश अपने आप में जो शांति है तुष्टि है वो किसी भोग में किसी राज्य में किसी संग्रह में किसी पदार्थ में नहीं हो सकती सब नाश हुआ में अगर परमात्मा मन लग जाता हूँ वो अविनाशी शांति मिलती है अविनाशी सुख मिलता है नहीं इसलिए तू चाहता तू आप माला माल है सभी जिसमें बने तू वो महाटकशाल है सुगम गम ये तद बुद्धि ग्राही आतंक नहीं अत्यंत सुख उससे सुख बढ़कर कोई नहीं है अत्यंत और बुद्धि ग्राह्यम बुद्धि को ग्रहण करती है बुद्धि है कि ना कर्ण हो गए अरे भाई ध्यान योग में कर्ण होता है ज्ञान योग में मन बुद्धि लगाए जाते हैं ज्ञान योग ज्ञान योग में तो जल चित्र को अलग करना है और कर्म योग में सबका हित करना है और भक्ति योग में भगवान को पुकारना है इनमें कर्णों की आवश्यकता नहीं है ये कर्ण निरपेक्ष होता है और ध्यान तो कर्ण सापेक्ष होता है उसे तो मन लगाना पड़ता है मन को लाभ है तो भगवान लगाओ ध्यान योग कर्ण सहित होता है तो सुगम आचरित नहीं है तो बुद्धि ग्राह्य तो बुद्धि हुआ ग्रह बुद्धि उसमें जागृत रहती है अतिद्रियम अतिद्रिय सुख होता है तो सुगम आचरण करने का मतलब है सात्विक सुख से विशेष बुद्धि ग्राह्यम कहा है कि सुसुप्ति से विशेष अतिद्रियम कहा है कि ये भोगों का सुख नहीं इंद्रिय संयोग ऐसा सुख होता मिलता अतिद्रिय सुख होता है और बुद्धि ग्राह्य बुद्धि जागृत रहती है और आतंक होता है उससे बड़े कोई सुख नहीं ऐसा सुख ऐसा सुख होता व्यक्ति है वाया ऐसे ध्यान में ऐसे सुख को जानता है तत्वता न करती अपना तत्व से चलायमान है जैसा मस्त है सगुना पराधीन सुख में सुख नहीं धन सुख हो जाए बेटे पड़े सुख हो जाए मान पड़े सुख हो जाए लोग अचानक से बोल जाए इतने पड़ जाओ तो बोल एक भगवान मन लगा मौज से जरूर से किसी बात वो होता है खास वो तत्व से न चलती तत्व से चढ़ाए मान नहीं अपने तत्व में निश्चय रहता पूरी देखो चित्त चढ़ाए मन कब होता है आपको पांच रुपये मिलते हो एक दिए पचास मिलते तो हो तो वहाँ मिलता है रुपये मिलता बात तो ठीक है मन खतरा है जीने का मर जाओगे तो चलो ये सुख और दुख लाभधानी इससे आदमी सरायमान होता है इस एक दो ही बातें है तो ये कहता है कि जन्म हुआ था परम लाभम मन लेते नाभिकम कहते जिस लाभ की प्राप्ति हो जाए उससे बढ़कर कोई लाभ है ये मानने में नहीं आता उसको तो बढ़कर कोई लाभ है इसी कोई सुख है ही नहीं इस वास्ते सुख है लोग से विचलित नहीं होता और यश में स्थित तो और दुख है ना गुरु साथ गुरु पर दुख दिया तो उसको तो भी शराबा नहीं होता शरीर की टुकड़ी की जाएगी उसे ग्रंथ नहीं होता वो परमात्मा तत्व तो है जीव का जो रहता है ये शुद्ध उसी बात है परमात्मा विदित लग जाता है लग जाता है लग जाता है ये माखी होती है ना हर एक बार बैठ गया पता उड़ाओ फिर बैठ गया वही हर एक पर बैठती पर अंगार पर नहीं बैठती अग्नि का अंगार उस पर नहीं बैठती अरे बैठ जाए तो उठती है नहीं बैठती फिर धुआं ही उठेगा ऐसे ये मन लग जाता है भगवान में अब तो इसके बढ़कर कोई सुख है नहीं और दुख है नहीं तब तो मैं न चलती कभी चला मान नहीं होता कैसी बात यम लब्धवाचा परम नहीं बंदे सदा इसमें स्तुतो दुख न कोरोना भी बड़े भाई दुख से भी चलो दुख आता है सदा सीधा सुख दुख सुख सीधा सुख सुख है दुख उनका पड़ता ये तो आते दिन रात भी हालांकि हम धन्यवाद भी होते दिन आओ रात आओ हाँ साहब अच्छी बात दीपक करो भाई अंदर आ गए सब प्रकाश हो गया मौज करो अब रात आएगी दुख पाओ क्यों दुख पाओ रात नहीं मिल गया खुशी हो गया अरे तो खुशी क्या है काम करो अच्छी तरह से दीपक कर लो यू कर लो सुख दुख क्या है अनुकूलता या या मस्ती में रहे कैसी तो संयोग वियोग योग संहिता दुखों के संयोग का एक योग दुख का स्पर्श है दुख पहुंचता ही है उसका नाम योग है ये ध्यान योग से इस योग की प्राप्ति दुख से योग योग से योग तो दे योग चित्र से वैराग्य क्षेत्र से तो ऐसा योग है उसको अभ्यास करने से उस योग में मस्त जो है बैठ रहा है मनोजनों सफल हो गया भाई कि गांधी बैठ रहे भगवान है हाँ, एक भगवान में आया ये ध्यान योग की बात होती अगर ध्यान योग करता रहेगा और तो भी स्थान आ गया फिर तो अत्यंत का ध्यान मुख सत्संग सत्संग सेवा जी मुख सुनते थे शेर के अत्यंत का ध्यान वो अत्यंत के ध्यान की अगली बात आवेगी वो दुख से विशिष्ट नहीं होता कवि और सुख से कोई मिलता नहीं सुख और दुख दोनों भी दुख तो पहुंचता नहीं स्पर्श नहीं होता और सुख इत्यादि से बिल्कुल सुख है ही नहीं उसमें मस्त रहता गीता बताया लोग लाभ चाहते हैं लाभ हो जाए जो गीता ही लाभ बताती है यम रद्वा क्या परम लाभ मैंने कहता तो सुगम आत्यंतिक बुद्धिग्राह्यम अतिरियम वेत यत्न से वह न चलती क्यों यम रद्वा क्या परम लाभ मैंने कहना यशमें स्थितों दुख ही इनको लाभ तुम विद्या तू कृष्ण योग भी योग भी योग संगीत तो गुरुना भी न विचारते वो क्या है वो योग है वो है योग तम तो विद्या योग योग उसका नाम है विद्या दुख संयोग वियोग दुख के संयोग के वियोग का नाम है योग स निश्चय वो निश्चय आगे नहीं होता है चित्र से उसका जरूर अनुष्ठान करना चाहिए दुखों का संयोग ना दुखों से क्या है दुखों का संयोग है पुनर्जन्म दुख लाभ मधातु नागुणंति महात्मा माम प्रेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम मेरी प्राप्ति होने पर दुखालय अशाश्वत पुनर्जन्म नहीं होता दुख संयोग वियोग मन फिर जन्म मन से रहित हो जाता योग संगीत उसी संज्ञा नाम योग है दूसरे अध्याय में योग की परिभाषा की है समत्म योग उच्चति और सब है निर्दोष अंगी समम ब्रह्म वो ब्रह्म परमात्मा उस समता का नाम योग है या दुख संयोग योग योग संगीतम दुख संयोग को योग योग का या बात क्या है कि संसार का संबंध विच्छेद हो जाए ये भी योग है और परमात्मा के साथ एकता हो जाए ये भी योग है परमात्मा के साथ एकता हो जाए संसार वियोग हो जाएगा अरे संसार वियोग हो जाए तो योग हो जाएगा परमात्मा के साथ सब सदा संबंध है ही तो दुख से योग भी योग तो ये दुख के संयोग का योग यह ध्यान योग की बात है ध्यान योग से अत्यधिक सुख मिलता है तो उससे फिर दुखों के संयोग का वियोग हो जाता है ऐसा निश्चय योग का वियोग यो योग निर्वण चिकित्सा योग का अनुष्ठान करने से अनिर्वण राग नहीं उतरा चित्र से उगता ही नहीं कितने दिन हो गए मेरा करते हुए कितने दिन अपना तो ये योग करता रहे निश्चय पूर्वक अब योग कैसे किया जाए तो अचिंत योग बताते अचिंत परमात्मा का अत्यंत ध्यान वो बताते जिस चिंतन चिंतन नहीं होता ऐसा अत्यंत ध्यान संकल्प प्रभान कामा त्यक्त व सर्वान शीर्ष संकल्प होता है ना संकल्प से कामना पूर्ति है काम जाना भी थे मूलम संकल्पात फिर जाए से अरे काम मैं तेरा मूल समझता हूँ जानता हूँ संकल्प आती है संकल्प से पहले होता है तो संकल्प से पैदा होती है कामना मन में पहले विषय याद आता तो उसकी बार बार याद आती है तो कामना होती है कामना में बोध बाधा आता तो क्रोध होता है क्रोध से समूह होता है समूह से बुद्धि भ्रमण से बुद्धि सब परिस्थिति फिर पतन हो जाता है तो संकल्प प्रधान कामन सर्वार संकल्प कामनाओं का सबका त्याग कर रहे कहते परमात्मा की प्राप्ति की कामना ये संकल्प पैदा नहीं होती ये तो स्वतः है जैसे भूख लगती है शरीर के लिए ऐसे इसके खुद के लिए भगवान की प्राप्ति की इच्छा होती है भगवान प्राप्ति की इच्छा खुद की है भूख शरीर की है धन की इच्छा लोभ की है भोगी इच्छा काम की है और भगवान की इच्छा खुद की है खुद चाहता है जो परमात्मा का अंश है तो अंश जिसका शरीर अन्न का अंश है अन्न अन्नमय कोष से ही माँ बाप से बना है अन्न से ही पड़ा है अन्न में रहता है तो अन्न के लिए शरीर के लिए अन्न ऐसे स्वयं परमात्मा का अंश है तो स्वयं की इच्छा जो भगवान की तरफ है शक्ति असली चीज है एकदम तो भगवान की इच्छा कर संपूर्ण इच्छाओं का त्याग करोगे तो इच्छाओं के त्याग में काम आवेगी भगवान की इच्छा और में सब इच्छाओं का त्याग हो जाएगा तो भक्ति प्राप्ति हो जाएगी ये संसार की इच्छा है सुख की भोग की संग्रह की मान की बढ़ाई की ये जो तो मन में वासना है यही बाधा है और कोई बाधा नहीं इधर तो अंतकरण शुद्ध है शुद्ध विषय अरे अंतकरण शुद्ध हो गया तो शुद्ध हो ये इच्छा विचार नहीं उनकी दूसरे से सुख रहने की इच्छा संबंध देंगे सुख रहने की इच्छा संग्रह की इच्छा मान बढ़ने इच्छा सब दूर हो जाएगा ठीक हो जाएगा अंतकरण की शुद्धि नहीं हो जाएगी सब हो जाएगा और ये इच्छा मन में रखो और पैसे पश्चिम मन है विक्षेप है रावण है उपासना करो भी कर्म करो प्रज्ञा भी करो फिर तब तुम ज्ञान करो फिर तब तुम सुनो सुनो सीख लोगे बहुत सी बातें होने का कुछ है नहीं और कामना के संग त्याग कर दो संसार से सुख लेने की संग्रह करने की दो इच्छा मुख्य है मनुष्य मात्र के भीतर हो गई ईश्वर ये पसंद करना सुख भोग संग्रह कर चीज वीर हो जाए ये हो जाए ये हो ये माई है ना पुरुष तो जाते हैं तो रुपया इकट्ठा करते हैं ये मेरे मतलब जो पत्थर दिया चाहिए सिल्ला चाहिए सिलवट्टा चाहिए सुनिए ये चीजें चाहिए घर में इनको पूछा जाए कि बाबा जी आपको क्या पता घर में कितनी चीज चाहिए वो चीज चाहिए पत्थर ले आएगी बर्तन ले आएगी ये चमचा भी लाएगी कटोरी भी लाएगी ये तृष्णा थी भोजन पहुंचावे उसमें बहुत रुपये लगे वो भोजन तो दे देगी पर कटोरी जाहिर पीस नहीं आवे तो गोद कटोरी की कटोरी तो कितने रुपयों की थी कटोरी ऐसे बेकार एक साधु थे उनको भोजन पहुंचे तो कटोरी मिली नहीं सिल्वर की रणदीसी को तो वार्ता तो कर सब वो करो वो बोला कि मुझे कितना कीमती दिया उसे तो कोई चाहिए कटोरी क्या हो गया उसकी परंतु चमचार कटोरी लखपति करोड़पति वन शेर करते पंचायत और बंटवारा करते हैं उसमें कुर्सी पीतल की कुर्सी के लिए ना लाखों करोड़ रुपये काम खुल उनका बंटवारा हो रहा है छोटी सी चीज घड़ी लेने लड़ पड़े तो पहले माताओं को तो चीज ही घड़ी रहती है और इन भाइयों के घुटनों की रुपया हो जाए जो दस बीस लाख पचास बढ़िया सत हो या हजार सौ लाख सिख सिख अपन संख्या बढ़ाओ संख्या अरे चलो चलो चलो अल्लाह राज्य में इन मतलब यार इंतरा क्या करें क्या तेने प्राप्त किया भाई मनुष्य नहीं बन गए रुपया कमाया सौ रुपया पहले होता था ना तो साढ़े बारह शेर होता था और जो बगड़े देर से है हजार दस शेर वो रिया एक दिन तो साझी हो गई गदा कितना ढोता है बहुत कई मन का ढोक एक साथ लिया और ढोकर नाम डालते अरे आप ले और ढोकर के दस हजार दो मन में को भर दिया है गला पत्थर नाक तरता है को नींद आती है धीरे धीरे आप लाख रुपये धरे तो पूरा दम खून आई हुई आई ये डर लगेगा भय लगेगा कोई डाकू ना आ गया चोर आ पहले डाकू और चोरों से डरते थे आज राज से डरते कि आ गई तो वो भी क्या तो प्रयास कर दे घर में मत रखो रखो कहाँ रख फिर अरे भाई भगवान कामा ये तो संग्रह की सुख की कामना है ये संकल्प से पैदा होता हमारे अविद्या ये कामनाओं का त्याग करके कितने कमाते तो सर्वान और ऐसे संपूर्ण कामना त्याग करो और थोड़ी पीछे रह जाए थोड़ी हो गया तो बढ़ जाएगी तुरंगतांगिता अपी इमे भावा संसंगात समुद्रायंते तरंग के समान होती वो भी या संग में तो जाते समुद्र पर हो जाते और ये उसे इतना हो और उसे दूर गया उसे तरफ गया पर चाहिए उसकी ऐसी हमें अपन और उसकी ऐसी मोटना पड़ी तरफ बढ़िया मोट रहा हूँ दौड़ राम नाम सत्य है दूसरा सड़क को मोटर सड़क मकान सड़क हमको मैं आ जाएगा अरे तारी राम राम राम राम राम कामनाओं का चाप मन सारे इंद्रिय क्रम के नियम में संबंधित है और मन से इंद्रिय ग्राम इंद्रिय समूह को बस में करो समंदर सब चारों तरफ है विनियम कर दो बस में कैसी बहुत ही बात बताई फिर समय समय ऊपर में धीरे धीरे उपराम विरोध नहीं और ढिलाई भी नहीं तो क्या करो ऊपर हमें मत क्यों नहीं पदार्थों से भोगों से मान से क्या मतलब क्या सिद्ध होगा सिवाय फंसने के और कुछ धीरे आया धनतरा विपत्ति विपत्ति धैर्य मधाभ्युदय क्रम सदशिवात पटुता युगनी क्रम प्रकृति सिद्ध मिलन महात्मा विकल हो जाता जो भी अच्छा रहेगा जो अच्छा लगेगा जन्मा जब साथ में लाया तो पोट नहीं मरेगा जब साथ हिट जाएगा रखते रखते बैठा तो तो कोई साथ हो गया दूसरे रोड में हो गया तुम्हारी जाते तो चला गया रस्ते में साथ हुआ चला क्या तेरा क्या चला गया साथ हुआ अरे साथ ले गया बीच में आया बीच में गया अर्जुन जी महाराज जी सोचते हैं बात एक दिन जा रहे थे गाँव उसने एक रस्ता पर था मूंग का किसी गाड़ी वाले का गाड़ी का तो खसक पी गया अब मुझे कंधे में डाल दिया अब क्या है कोई मिल जाए तो उसको दे देते नहीं तो कपड़े ही सुखा देंगे तुम मस्त में भजन करते चलते थे धीरे धीरे धीरे खसते गिर जाते गाँव पहुंचे रसा कहा है गिर गया तो मन लगा रस्ता तो गिर गया तो रज्जु जी बोले पहले जैसो मन करने भाया रज्जु वर्षा पूज कर पाया न पाया जैसे गांव से चले थे वैसे गांव पहुंच गए बीज माया बीज किया गया क्या बता बच्चे तो पहले जैसो मन करने पाया पहले बेटा नहीं था बेटा हुआ तो आ गया तो पहले के तो मन कर रहे भाया हृदय मूल जैसा पूर्ण पया ऐसे समय इसे ऊपर में एक बुद्ध धीती के धैर्य रखे धीती धीरे धीरे तो तेरा विपोता में कहे और पुत्र ये धीरे धर्म मित्र और नारी आपत्काल परिचय अब क्या धीरे है शास्त्र में लिखा है ये जो पतिव्रता स्त्री होती है पति की सेवा करने वाली और पति में कोई आफत आ जाए धन आ जाए तो ही बन जाती है क्या ये आता जाता रहता है कभी तो पति समझाता है कभी पत्नी पति को समझाती है राम जी के जाना तो और दे है बेटा है देखो बेटी उसी देश की राजा की कथा आती वो पति मर गया पति वो रोने लगी जमराज जी छोटा सा रूप धारण कराया ऐसी तो रोगी थी बड़ी बूढ़ी होगी रो मेरे को मेरा माँ है मेरे बाप है सब मैं मसूर मैं भी नहीं रोता तुम क्या करती हो भागो तुम्हें तो दिया आत्मसंस्तो मैंने कृतवा परमात्मा परिपूर्ण शक्ति आनंद परमात्मा है ये मन करना आत्मसंस्तो मन करता परमात्मा है ऐसा मन करके न चिंतित कुछ भी चिंतित नहीं परमात्मा का चिंतन करेगा तो मन साधु हो जाएगा Sen saridetten tanıdıklar, sen zahir orman doğmuş hatırlar ya. Şuan ne kimsin ölüm kimdeydin. kimsin Ağaç için bulmalar. Ağaç için mi yazar? Sorgun gibi her, her satın gibi yazar. Çünkü bu yuğur oldu, bu ne? Ağaç kimsin bulmalar. Lakin kimsin ki, efsane bu tutklar kaymış. चेतन हो गया तो क्या करे कहे बस ये तो ये तो निस्तति मन संचलम अस्थिरम अस्थिरम संचलम मन यथा ऐसा निस्तम ऐसा स्थिर नहीं वाला मन चंचल जहां जहां जाओ जैसे जाओ तटस्थ हो गई वहां वहां से जाकर आत्मा भी है परमात्मा भी और बंद हो जाता है ये जल्दी से भगवान में लगाते हैं भगवान से कहता रहे ये मन कुछ भी नहीं हो तो भगवान से कह दो आप जितने बैठे भाई बहन अपने मन बस में नहीं रहता चिंतन होता है तो भगवान से कह दो देखो देखो महाराज मेरी बात आ गई क्यों मैं चला गया इसी खूब मन में आ गई देखो तमाशा सब ठीक हो जाएगा बच्चे में कोई आफत हो तो माँ माँ करता कौआ है तो माँ कर दिया तो माँ ऐसे आत्मा ये उपस्थान शांत मन मन प्रबंध हो जाता शांत हो जाता उपशम हो जाता उपशम ऐसे उपशम जिसका मन हो गया है ऐसे योगी वो एनु योगी इस योगी को उत्तम सुखों उत्तम सुख प्राप्त होता है कि वो शांत रज भूत में अगम ब्रह्म स्वरूप है एक परमाणु करते हुए अकल कोई पाप नहीं ऐसे को उत्तम सुख जितने संसार के सुख है सबसे श्रेष्ठ सुख हो गए उपयुक्त शांत रजसम रजो शांत हो गया चंचल चंचल कामना इच्छा वासना नहीं है और अकाल में पाप की नहीं है किया नहीं है बिंदु नहीं है ऐसा सुख युवन एवं आत्मा ने योगी विदित कम युवन एवं साधन सदा ही ऐसे अपने मन को लगाता रहे कि वो युवन कैसा आत्मा योगी विगत राग राग हर्ष शोक ये भोग सब कर्म है सब पाप पाप पूरा पाप पाप ऐसा शांत हो गया विगत कर्म हो गया ऐसा पुरुष सुखी ने ब्रह्म संस्था अत्यंत सुख पूर्वक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है तमस तमस्त कर्म सम गया और शांत रंग योग गया और से उपराम हो गए अपने उसकी भी परवाह नहीं आ गया भी परवाह नहीं तो सुखे न बृहस्पति परमात्मा की प्राप्ति द्वारा सुखपूर्वक अत्यंतम सुखम आस्पते अत्यंत सुख परमात्मा को प्राप्ति जिसका कोई अंत नहीं आता ऐसा सुख प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान योग कैसे करता है और भक्ति योग कैसे करता है अब बताते हैं ज्ञान योगी है एक ध्यान योगी की बात बताई अभी तो अत्यंत के ध्यान की बात है ना किंचन प्यारे सर्वभूतम आत्मान अपना स्वरूप सब ये परिपूर्ण है अपने आप को सब व्यापक सर्वभूतानी से आत्मनी संपूर्ण भूत है जो आत्मा में आत्मा स्वरूपता में स्वभूत सुमात्म सर्वभूतांत एक योग युक्ता आत्मा ये योग समता से युक्त आत्मा है सर्वत्र समग्र सब सम परमात्मा को ये सब में उस परमात्मा में संसार संसार में परमात्मा वो तत्व संसार ऐसे सम देखने वाला आत्मा एक होते इस एक इस दर्शन सब भूतों में आत्मा देखता है आत्मा में सब भूतों को देखता है और सुंदर से देखता क्या समूह को समरूप निर्दोषणी समम ब्रह्म उस समता में संसार है संसार में समता है भक्ति होगी कि यो माम पशु की सर्वोच्च सब में हमारे प्रभु है प्रभु है प्रभु है प्रभु है हाँ, श्री राम में सब करो प्रणाम योगी सीताराम सीताराम सीताराम सर्व वो प्रभु यो माम पशु की सर्वोच्च और सर्वंत्र मई पशु सब परमात्मा में सब परमात्मा में सब परमात्मा सब बर्फ में ढेलों में पानी है पानी में बर्फ है और वास्तव में बर्फ जल्दी जाएगी यो माम पैसे भगवान ने कष्ट तो आग न पड़ने से उस समय अभी से नहीं होता सब ये न पड़े मेरे सभी नहीं होता सब जगह मेरे को दे दे कहाँ आग किसी जगह बर्फ के ढेले को बर्फ के पीछे लुका हुआ तो बर्फ सामने बर्फ किसी पीछे भगवान छिपते नहीं कैसे छिपे जा भगवान को भगवान के भक्त होते हैं सब में भगवान को देखते हैं उनसे भगवान उधर होते ही किसके पीछे छिपे बैठो जिसके पीछे छिपे उधर भगवान जा छिपे वही भगवान छोरा खेल के आंख में सोने तो खेल को तो लड़के लड़के बन में खेला होता हमने खेला भाई आप में चल सुबिया सुबिया और छोड़ू दूर तो देख लेते हैं कि वो सारा बैठा है तो दूर है वो देख अब तुम बैठा है अब देख तो चाक लंबी करी अब देख कूट पा कर अब तो घुटना को करा है वो थोड़ा तो चल जाएगा <laughs> ऐसे भगवान शब्द है भगवान भगवान के लिए भी शुक्र से क्या फायदा आप कहीं पूजा ऐसी और है तो सब ठाकुर छिप जाएंगे आप मतलब खेल है भाई यो माम दशित सर्वत्र अरे सर्वत्र मैं कही कलकत्ता में सत्संग करा जाते थे एक दिन की बात याद आ गई उसमें वर्षा आ रही थी तो गंगा जी के ऊपर बबू घास उठाया हुआ कुछ में चले गए वक्षा पड़े खींचने पड़े पंद्रह बीस पच्चीस आदमी सार से संग वह बैठ गए वह रजस्व परिवार जो है तो मैंने शादी को भाई उसने बात कही थी याद आ गई बहुत वर्ष हो गए पचास वर्ष के ऊपर हो भांग घोट रहे ना भांग घोट कर गए छान कर गए उथल पुथल करती हूँ तब मैं विरोध करती हूँ मैं चट्टान गिर गए फिर निशान लगा मैंने कहा ये संसार सब है बाबा भोला ने रगड़ा लगा दिया जी शंकर धाम घूटती वो माम परिचित सर्वत्र अरे सर्वंच मई परिचित यो माम परिचित सर्वत्र परिस्थिति तो देखो न करो भाव को तो ये सुना लोग राजी हो गए मेरे को याद आ गया ये भाव परिस्थिति करो परिस्थिति भाव परिस्थिति सर्व परिस्थिति न ऐसा कीजिए जैसा अंधा तुम हृदय मेरे मर गया ना आप आनंद ऐसे यू माम पश्चिम सर्वोत्र सर्वोत्तर तस्वीर प्रणय भगवान उस मैं अदृश्य नहीं मेरे लिए अदृश्य नहीं होगा और वैसे उसको समझ में जाता है युग ने उस आत्मा में योगी नहीं तो माम उसका मन बिगा नियत हो गया है कहा गए रे भाई आ गए रे भाई ये है हनुमान जी के पिताजी है ये उठो उठो करते थे कहाँ पढ़ते थे कहाँ आ गया